वन्दे कृष्णपरायणगुणं यस्मिन् कुरन्ति पुरुषां वैष्णोजप्रणीकृतेवस्मिभोङ्गरास्वर काश्मीरं कलशोर्गोवर्धने कस्तूरिणां नीमा श्रीखण्डं नखचन्द्रकान्तिलयं विव्याजमातन्वते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासम तपो च वाचाकल्पतरुभ्यश्चकृपासिन्धुभ्येन पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बराक्ष हे रूप दुर्गत जनैन्द्र दयालु हे भक्ति रूप सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में गुरु मन मते दयान्द्रा तुलसी काननम पद्मनानि च पुराण पठनं यत्र तत्सन्निहितो हरिः पुरुषकुण्डाभूयादिकानि परम श्री भावना सार संग्रह श्री सिद्ध कृष्णदास तात्पाल सिद्ध रसजनों के द्वारा अष्टकालीन लीला जो स्मरण किया गया उसमें प्रातः कालीन लीला का जो महापुरुषों का अनुभव उसका भी आनंद ग्रहण करते हुए श्री प्रातः काल की का स्मरण महापुरुषों के द्वारा रचित महापुरुषों के द्वारा संग्रहित इनमें महापुरुषों के द्वारा जो संग्रहित वस्तु है वो और भी ज्यादा उनके द्वारा अपनी जो रचना की गई है उसकी अपेक्षा उन्होंने महापुरुषों के पूर्व पुरुषों के शास्त्रों से जिन पंक्तियों को चुना जिनका उन्होंने संकलन किया वो और भी अधिक आस्वादन और महत्वपूर्ण है तो वे उन महापुरुषों को भी प्रेरणा प्रदान करने वाले उनको भी रस प्रदान करने वाले वो गया श्री ऐसा ही किया विशेष रूप से आश्रय करके उनका आश्रय करते हुए प्रातः काल के समय श्री किशोर को आपकी सचिव से वार्तालाप कर की है किशोरी की सभा में उस समय मधुर राजी नंद भवन से पधारी है नंद भवन में जो युद्ध हो रहा है उसकी सूचना श्री किशोरी जी को दे मैं वहां ये देख कर गया नंद भवन में क्या हो रहा है उसे बता रही हूँ Shasana 86. अरे भगवते पश्चाचोत्तम सुनो तमय मृदुर मंद मंद विलास मोले खर नख नखर शिखाभि घात रागाम चित्रम चपल शिशु समुदाय हाँ होता किम करूं पूर्णिमा से श्री यशोदा जी कह रही बड़ी तरह मधुरता श्री राधिका से परंतु तो लीला है श्री नंद अरे सखी श्री राधिके मैं ये देख करके आई हूँ कि उस समय श्री यशोदा पौर्णमासी से कह रही थी कि अरे भगवती हे भगवती देखो तो देखो पश्चिम चोटित मेरे सुनो मेरे बेटे को कैसी कैसी चोट कर गई है ये बच्चे बिल्कुल भी नहीं मानते हैं बहुत अमान कोई अनुशासन मानते ही नहीं भैया कह रहे हैं शिकायत कर रही हैं पश्चिम आ चोटे तम सुनो मेरे बेटा के अंग में कितनी चोट लगी है कमल मृदुल मंगल हाय कैसा कोमल लाला का अंग है पर मन लीला ये कुश्ती की लीला में इतना चंचल है इतने डूबे हुए हैं कि दिन भर सखाओं के साथ में कुश्ती लड़ते रहना कूदम करते रहना और कुश्ती लड़ने में देख मेरे बेटा के वक्षस्थल के ऊपर भुजाओं के ऊपर कैसे नख की खरोच रखे कुश्ती लड़ते कुश्ती जाने कौन सी हुई है परंतु श्री यशोदा अपने भाव से देख रहे हैं अपने भाव से उसका दर्शन कर रहे हैं निज भाव का दर्शन कर रहे हैं मल्ल लीला से लो गई सखाओं के साथ में मल्ल लीला करते हुए उसकी लड़ते समय इसके मृदुल अंग में कैसे चोट का चोट लग गई खर नखर शिखा हाँ पहले नखों की नोक से घात रागात चित्र मेरे बेटा का कैसा सुंदर सजा हुआ इसका श्रीअंग था घातो राग गेरू चंदन इनसे सुंदर इसमें पत्रावली बनाई हुई थी परंतु वो सारी पत्रावली खर्च गई और कैसे कुश्ती लड़ने के चोट के चिन्ह इसके अन्न के ऊपर विराजमान हुए हैं चपल शिष्य समूह ये चंचल बालक मानते नहीं है कई बार कहते हो बेटा ऐसे मत लड़ा करो मत लड़ा करो परंतु हाथा हा हता किम करोगी ये मानते नहीं है कुश्ती लड़ने का बड़ा ही शौक बड़ा ही इनको आनंद आता है हा हा किम पड़ोसी मैं तो इन बच्चों की चंचलता को देख के परेशान हूँ किन करूंगी क्या करूँ क्या ऐसे श्री यशोदा जी अपने भाव से नहीं ये बालक की चंचलता को लेकर के माँ की चिंता ये बड़ी मनोवैज्ञानिक सहज चिंता है ये चिंता माँ सदा करती है तो माँ की ये चिंता बड़ी सहज चिंता है पर आई भगवती देखो देखो आप चोट तब मेरे बेटा के श्री अंग में अंगों में कैसी चोट लगी है मैं अस्सी सुना मेरे इस पुत्र के अंगों कैसे इसका अंग कमल मृदुल मंगम कमल के समान कोमल है मल्ल लीला सुडोलन परंतु ये मल्ल लीला में ऐसे चंचल हो रहे हैं कि खर नखर शिखारू पहले नाखून की जो शिखा है नाखून के कौन कौन कौन से घात और राधा चित्र इनका श्री कन्हिया का अंग इसमें जो धातुराग माने गेहूं से चंदन से जो कमल पत्र बनाए थे इसको जो सजाया था वह धातुराग वह भी उखड़ गया है वह भी नष्ट पुष्ट हो गया है चपल समूह ये चंचल बालक मानते नहीं है हाँ बता किम करोगी हाँ मैं क्या करूंगी कैसे इनको स्वभावत स्नेह हरे स्वजन चित्र पदाम अपवाणी ताम चकते क्षण आस्था उस समय स्नेह भरे माँ के स्नेह से भरे हुए चित्र पदाम पानी अपनी माँ के जननी के चित्र पद वाले अद्भुत पद वाले वाणी पोषी शास्त्र महावीर की जो अद्भुत पदावली जिसमें प्रवृत्त है शब्दावली शब्द जिसमें प्रवृत्त किए गए हैं ऐसे वाणी को सुनकर उस वाणी को सुनकर मुरारी वे श्री कृष्ण रीना आज लज्जा से युक्त हो चटन चरासी चंचल नेत्र वालों को है माने लज्जा माने लज्जा से युक्त होकर के विराजमान हो गए और चतन चतुर चकित ईक्षण वाले होकर के विराजमान कृष्ण सशंकम आश्रय परिहास पटुल बटु स्नेह कृणाम अम्मा अभी उस समय बीच में ही कृष्ण कृष्ण को शशंक देख करके भैया को पता नहीं लग जाए मेरे पुत्र श्री प्रिया जी के साथ में रास क्लास करके अभी आकर में सोया हूं भैया को पता नहीं लग जाए इसलिए इसमें शशिंदर और आशंकर श्री कृष्ण शशिंदा से युक्त हो गए आशंका से उस समय कृष्ण की रक्षा करने के लिए परिहास पटोल बटो ये बटो वर्णन कर हंसी करने के लिए पर पर चतुर हुई पटोल कठोर मधुमंडल परिहास करने में हंसी करने में परम पटु परम चतुर उस समय स्नेह कृम्न अंतरा जिनका हृदय बात्सल्य भाव से डूबा हुआ है ऐसी मां से अम्मा मान श्री यशोदा से जिनका हृदय स्नेह से कृम्न हो रहा है स्नेह में भीगा हुआ है ऐसी मां से अवधर्म अवधर मधुमंगला मैं माँ से कहने लगा माँ तू बिल्कुल सही कह रही है मैंने भी कन्हैया से बहुत बात मना किया कि इन वैश्याली के साथ में और आली शब्द जो है उसका अर्थ है पंक्ति वैश्य मान सखा सखा कोई भी हो सकते गोपी भी हो सकती है गोपी हो सकते हैं तो मैंने कन्हैया से मैंने भी हजार बार रहा है इन सखाओं के साथ में रात को मत खेला दिन में खेलो तो ठीक है पर तो रात में न जाने कहा छोड़ लग जाए पर ये मानता नहीं है सखाओं के साथ में रात में भी खेल खेलने लगता है वे भी मना कर और इसीलिए इसके अंदर में ये चोट लग रही श्याम सुंदर की तो ऊंची उठी हुई जो श्वास वो धीरे से दम तक नहीं तो घबरा रहते थे क्या मत मत सारी पोल खोल रहा है तो मधुमंगल के वचन इतने चतराई से पूर्ण है कि बात भी पूरी कह देंगे और बात पूरी कह करके कहीं ढाक है तो कृष्ण सशंक हो आशंक्य हो कृष्ण को शंका से युक्त देख करके ये प्रयास करने का बढ़िया मौका है ऐसा विचार करके प्रयास कठोर वो बटु परिहास में पर्व पटु होकर के स्नेह अंतर जिनका अंतर जिन यशोदा का हृदय प्रेम से भीगा हुआ है ऐसी अम्मा मां से अवदन मधुमंगल मधुमंगल यशोदा से बोल सत्यम अम्बे हे मां सत्य है सत्य है हे हम वैश्याली बात आप मया अनिशम मया माने मैं तो अनिशम माने सर्वसना कन्हैया को बालता और कन्हैया को भी और सखाओं को भी वैश्यों की पंक्ति को भी सदा रोकता हूँ ऐसा मन क्या करो मन क्या करो पर न सखा मेरे द्वारा सखाओं की आगे मन पंक्ति इनको बारे तापी ओढ़े जाने पर भी रेमे अनेन अति लोभेनो ये कन्हिया भी लोभी है ये भी सखाओं के साथ में रमा करता है सखाओं के साथ में खेलता है कुंजेश तेल चंचला वो सखाओं की पंक्ति बड़ी चंचल है कुंजों में तेली में बड़ी चंचल होकर के वो पंक्ति

इस प्रकार श्री शास्त्र जैसी चेष्टाएं प्रयत्न अपनी आंख को जैसे नींद जा नहीं रही है मैया चढ़ा रही है तो आंख जबरदस्ती खोल देते प्रयत्न पूर्वक को तो यत्ना करके पश्चिम पुनस्मान जन्म अपनी माँ के सामने देख करके हरे पुनर्नबीर फिर से आपको माँ को सामने देखा तो नींद आ रही है फिर सो माँ के सामने चल ये चंचलता तो माँ के सामने चंचलता कर रहे पुनर्नबीर सर स्मित भक्त पंकजा सस्मित जिनका मुख कमल मुस्करा रहा है ऐसे श्री हरि ने माँ के आगे आंखें खोले फिर आंख बंद करके जैसे बंद करने का प्रयास कर रहे उस समय आकरण वाचा ब्रजराज पत्निया कृष्ण से बाल चेष्टा करी जनन्या भावांतर छाद करी जनन्या तम पौर्णमासी स्मित पूर्व पौर्णमासी सारे भावों में जा रहे तो आकर निर्वाचन ब्रजराज श्री ब्रजराज की पत्नी यशोदा उनके वचनों को श्री पौर्णमासी और समीक्ष कृष्ण से बाल चेष्टा और श्री कृष्ण जैसी पालन चेष्टा कर रहे हैं कि आलस्य छोड़ ही नहीं रहे हैं आप जरा से बोलते हैं फिर नींद आ रही है ऐसा कहकर के फिर से सो जाए तो बाल्य चेष्टा करते हुए कभी आप बोले फिर माँ को देख करके नहीं देख करके फिर आप बंद कर ऐसे बाल्य चेष्टा करते हुए विराजमान उस समय श्री जनन्या माँ के भवान तरफ छागर करीब श्री की यशोदा के अर्थात यशोदा से उनके वात्सल्य भाव का विरोधी भाव जो श्रृंगार रस है उस श्रृंगार रस के भाव को ढांकना चाहती है यशोदा में वात्सल्य रस का ही स्थापना करने के लिए और श्रृंगार रस को अभी छिपाने के लिए श्री पौर्णमासी तो भावांतर आसार करी श्री यशोदा उनमें जो भावांतर आ गया था माने जो कभी श्रृंगार रस आने की संभावना थी उसको छादन करते हुए उसको ढकते हुए तब पौर्णमासी स्मृत पूर्वक भाव श्री पौर्णमासी जी ने उस समय श्री कृष्ण के सामने मुस्कुराते हुए कहा श्री कृष्ण से मुस्कुराते हुए पौर्णमासी जी कह रहे कि सखी नाम संदुर्भि मिलवरी महाकेल तभी परिश्रांतस्वम यह स्वपश सुमते योग अनाम त्रिष्ण मटिदुर्कर्ण किंतु ब्रज पौर्णमासी जी अब श्री कृष्ण से कह रहे कि श्याम सुंदर सखाओं के साथ में तुमने बड़ा खेल किया है बहुत किया है इसलिए थक गए हो और थकने पर तुम सो रहे हो ये उचित इसमें कोई बात नहीं है ये सरलता उचित ही है तो सखी नाम सर्वो है संस्कृत में सखी शब्द स्त्रीलिंग और पुलिंग स्त्री और पुरुष दोनों के लिए सखा शब्द का प्रयोग होता है सखी शब्द का प्रयोग होता है दोनों के रूप भी करीब करीब एक से चलते तो सखी शब्द पुरुष सखा के लिए भी आ सकता है और स्त्री सखा के लिए भी सखी के लिए भी वो सकता है तो सखी नाम संतों में मित्रों के संतों में संतों में समूह मित्रों के समूह निर्वय महाकेवी तथी तुमने महाकेवी की है तथी मन पंक्ति महाकेवी की पंक्ति करते हुए तुम विराजमान हुई हो अब महाकेवी के दोनों तो हो सकते हैं सर्वों के साथ में भी केवी हो सकती है के साथ में भी हो सकता है तो दोनों तो सखी शब्द और शब्द वचन ऐसे श्रेष्ठ पूर्ण है ऐसी दुर्घानी तलवार है जो कि सखाओं के साथ में भी संगम है और श्री प्रिया के साथ में भी संगमित हो सकता है तो अपनी अपने मित्रों के समूह के साथ में निर्वट माने निरंतर खेल तत्वी विलास करते हुए जब तुम विराजमान हुए हो खेल करते हुए जब तुम विराजमान हुए हो तो का स्वाभाविक ही है कि तुम थक गए होंगे सुमन हे सुमति हे सुंदर बुद्धि वाले श्याम सुंदर जो आप शयन करते हो जो योग वह सर्वथा उचित भी है परंतु तुम सोते होते उधर जितने भी बछड़ा है वे सबके सब अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं अनायोग्य वे तुम्हारा दर्शन न करके बहुत कृषितम आदमी वे तरण तरण मन बछड़ा वे जो बछड़े हैं वे त्रिशतम अपनी प्यासे भी मन सब भूखे हैं माँ के दूध के लिए सब रात भर के भूखे हैं माँ के दूध को पीना चाहते हैं अपनी अपनी गायों के दूध को परंतु तो माँ भी ये देख रही है गाय भी देख रही है कि बालक मेरे दूध के लिए व्याकुल है परंतु फिर भी त्रिशतम अपने लोग तर्ण दक्षिणाओं का जो तो समूह भय की उदाहरण किंतु मां मन काय इन बालकों को की उधा गायों के थन जो राशन मोटे हो रहे इनके मोटे हो रहे हैं परंतु एन मोटे होने पर भी गाय बालकों को दूध नहीं पिला रही है तो अनायोचत्वाम जब तक ये गाय तुमको नहीं देखेंगे तब तक त्रिशतम अपे नो तरण कुलम प्यासे होने पर भी तरण कुलम माने बछड़ों को जीव नो खाती मोटे एन होने पर भी बालकों को दूध नहीं पिला रही है बच्चों को दूध नहीं पिला रही है इसलिए ब्रजपुल पते हे ब्रजराज कुमार हे ब्रज के चंद्रमा हे ब्रज के ब्रजकुल के हे स्वामी रक्षक जागृत कर रहा है इसलिए अब तुम जाग जाओ अब तेल लगाने की जरूरत है अब जाग जाओ ब्रजपति कुलपते चाकुरी तक इसलिए चार चार तो अनालोचकवाम्भो गाय तुमको न देख करके भूखे होने पर भी अपने बछड़ों को धायती नो धायती दूध नहीं पिलाती है यद्यपि ऊधा यद्यपि इनके एन खूब फूल गए एम भर गई है और ये दूध के भाग को सहन नहीं कर सकती है इसलिए मैं बालकों को दूध पिलाने के लिए व्यापक हो रही है अन्यथा दूध टपकने लगेगा किंतु ब्रज कुलपते जागरूकता इससे देर मत लगाओ माना तुम थक गए हो सो रहे हो पर अब तुमको जाग जाना चाहिए पर मासी जी ने उस समय कहीं बात आगे भी बढ़ जाए श्याम सुंदर के श्रीअंग में जो वेदन के चिन्ह देखे उनको यशोदा जी अभी तो अपने भाव से ग्रहण कर रही है नीला वस्त्र में था उसमें यशोदा कह रही है वो ये बलराम के वस्त्र को खुद ने पहन लिया इसके वस्त्र का पता ही नहीं है कहाँ है दुपट्टे तो ऐसे ही अंग में नक्षत्र दंतक्षत देखे उनको देख रही है हाय उसकी लड़ते लड़ते इन चंचल बालकों ने आपस में कैसे अंगों को छत विक्षत कर रखा है और श्री अंग के ऊपर जो चित्राम किए गए थे उनको पूछा हुआ देख करके ये कह रही है कि लोग कुश्ती लड़ने में कन्हैया की सारी सजावट वह अस्त व्यस्त हो गई है महमंगल भी कह रहे हैं मैंने तो खूब रोका पर नहीं मानता नहीं है और ये सहागर भी नहीं मानते हैं उनके साथ में ये पुण्यों में चंचल केली करते हुए कुश्ती लड़ते हुए छीना झड़ी करते हुए विराजमान होता है कभी तो पूर्णिमा जी ने इन बच्चनों को बनाए रखने के लिए इनके भाव को यशोदा के वात्सल्य भाव को बनाए रखने के लिए उस यशोदा को इस तरह यशोदा के सामने कृष्ण से कहा

चिराग कुमार ये राजा बेटा हो तो ये वात्सल्य की वजह कोश के ब्रजराज कुमार माने अपने सामने देखो पश्य तुम्हारे बड़े भाई बलराम सहजे वैसे तुम्हारे सखाओ के साथ गोष्ठम प्रतिष्ठासु जाने के लिए बिल्कुल तैयार है माने कौशाला में जाने के लिए बलराम बिल्कुल तैयार है पर फिर भी प्रतीक्षितवान वे तुम्हारी प्रतीक्षा दे रहे हैं अंग में वे आनंद में तुमको साथ में लेना लेकर के जाना चाहते हैं अतः तर्ण बछड़ों के साथ में बछड़ों को हाथ से पकड़े हुए श्री बलदेव तुम्हारी परीक्षा प्रतीक्षा कर रहे हैं जब तुम आ जाओगे तब ये बछड़ा भी माँ के पास में जाना चाहता है और बलदेव ने इनको रोक रखा है और ये आनंद में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं इसलिए फिर गोष्ठ राजकुमार जल्दी से उठो आराध माने सामने आराध माने पास में या सामने पश्चिम अग्रजो अपने अग्रज बड़े भाई को देखो जो सखाओं के साथ में गोष्ठ में प्रतिष्ठा प्रस्थान करने की इच्छा वाला होने पर भी प्रतीक्षित तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है और कल कहीं बालकों के साथ में बछाओं के साथ में यहाँ दीक्षा कर रहा है हम समुष्ट पाणी द्वयो सोच रसाल सांधन चिम्हा चश्मांश जाल जाल नील शयनार उदस्था समुष्ट उस समय श्री कृष्ण ने सब मुश्किल अपने दोनों हाथों को जोड़ सब मुश्किल चाहे सब मुश्किल मान मुंह अपने हाथ की मुट्ठी बांध और मुट्ठी बांध करके पाणी वह पूर्णमयी अपने दोनों हाथ उनको अंगड़ाई लेते हुए अंगड़ाई लेते हुए श्री शास्त्र उठे तो सब मुश्किल समुष्टि माने मुट्ठी बांध करके पांग गणमयो तो हाथों को उठा करके अंगड़ाई ले करके विमोटेर अंग जो है उनको विमोटेर ऐडते हुए अंगड़ाई लेते हुए सोच वे रसाल रस आलस अंग रस में परम सुंदर आलस्य से युक्त अंग उनको अटैच करके अंगड़ाई लेकर के अपनी जितनी भी निद्रा है आलस है उसको दूर करते हुए अंगड़ाई लेकर के श्री कृष्ण उस समय उठे और जिम्हा भूषण पर दशनांश जालम और जम्हाई लेते हुए उन्होंने मुख को थोड़ा सा फाड़ा उस समय मुख खोलने पर जिम्हा जम्हाई लेने पर विसर्ग माने प्रकट हो रही है दशन अंश जाल तापों की किरण बाहर भी प्रकट हो रही है जिनकी दांतों की किरण बाहर प्रकट हो रही है अर्थात कुछ दांत चमक रहे हैं जमाई लोग आप करके करके जिसमें जमाई ले रहे हैं उसमें जनता बन थोड़ी सी बाहर किरण बाहर निकल रही है तमाम लीला वे तमाम श्री शांतर शयना अब शैन से उठ अब शैया का त्याग कर दिया एक छवि छवि कहते हैं कोई एक भूमिमा जो हृदय में चुभ जाए और हृदय में बहुत देर तक बस रहे उसका नाम छवि विभिन्न चेष्टाओं में शरीर की एक भूमिमा जो हृदय में जम जाए और दूसरी वस्तु उनका स्मरण मिल रहे उसका नाम है छवि तो फिर श्री शास्त्र आज अद्भुत छवि को धारण करके विराजमान हुए और शयनाथ उदर उदस्था शयन से अपनी शैया से उठे

आंख खोल रहे हैं तभी आंख फिर आंख खोले फिर भी आंख झुक जाए तो उन्मिलन मैं आंखों खोलना और फिर से निमिलन दोबारा आंखों का झपकना इनके बीच में बहुत हुए कई कई बार यह चेष्टा हो रही है कभी आंख खुलती है कभी बंद हो जाती जागृत शयान कभी जागृत हो जाते हैं कभी सोते सोते से जागृत दशो जागृत और सोने दोनों की जो दशाएं हैं वो विराजमान है विश्व तत्व जागरण और स्वप्न शयन दोनों दशाएं विश्व हो रही हैं नेत्रों का उन्मीलन और प्रतिनिमिलन ये कई कई बार हो रहा है बार बार आप खोलते हैं बार बार आंखें चुप जाती हैं बंद हो जाती हैं बार बार जागते हैं बार बार सो जाते हैं तो जागृत श्याम दशियों में विश्व जागृत और शैन इन दशाओं का मिश्रण भी हो रहा है ऐसा होने पर सारा निद्रया फिर हम कातरे रात होते हुए आज मीर श्री कृष्ण को छोड़ना नहीं चाह है श्री जैसी चीज को कोई छोड़ना चाहेगा तो निद्रा करता है सार निद्रा नींद जो है वो कृष्ण को मानव छोड़ना नहीं चाह रही है इसलिए सार निद्रा उस समय जो दशा है मित्र मन निद्रा वो जो निद्रा है उस निद्रा ने हृदय को मानो श्री कृष्ण को पकड़ ही रखा है विरह तात्पर्या निद्रा मंदिर विचार करिए आज मुझे कृष्ण से विरह प्राप्त करना पड़ेगा इसलिए विरह से कातर होकर के वो नीर श्री कृष्ण को पकड़े हुई यहाँ पर नीर जो है वो सब चीज सचेतन ये भी सचेतन है वो सामित्र वो नीर विरह कातर आज मुझे विरह कातर हो जाएगा इसलिए मैं विरह में कातर हूं कृष्ण से दूर होना पड़ेगा इसलिए मृणाली उस समय सामान्य नेत्र द्वयी को कृष्ण के दोनों नेत्रों को पकड़ सात बैंगन द्वितों का जोड़ा उसको आज मानो दिदे को नींद ने अपने आप को ही कृष्ण के नयनों को दे दिया कृष्ण के नयनों को दे दिया नींद ने मानो अपने आप को कृष्ण के दोनों नेत्रों को प्रणाम कर दिया इसलिए अपने आप को श्री प्रदान कर रही है कृष्ण के दोनों नेत्रों तो नील ने स्वयं को कृष्ण के दोनों देवों को ही को प्रदान कर दिया है ये पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण का योग है और नीत मानो दे रही है प्रेक्षा अलंकार का ये बड़ा सुंदर रूप है और ऐसी जो प्रेक्षाएं है वो छायावाद में विशेष रूप से छायावाद उसी का नाम है कि जहां बिंब प्रधान न हो बिंब के द्वारा पड़ने वाला प्रभाव उसको जहां पर वर्णन किया जाए उसका नाम छाया जहां किसी वस्तु का वर्णन किया जाए स्थूल का वर्णन किया जाए उसको हम कहेंगे वस्तु विवरण शैली इसका बिल्कुल विपरीत जो कहीं रिपोर्टिंग है रिपोर्ट आस वो रिपोर्ट आस से बिल्कुल उल्टी एक वस्तु है वो है रिपोर्ट आस में जो वस्तु जैसी है उसको वैसा का वैसा बिना अपने व्यक्तित्व को उसमें जोड़े हुए अपने व्यक्तित्व को तटस्थ रखते हुए जो घटना घट रही है जैसी है उसको वैसा का वैसा प्रस्तुत कर देना इसका नाम है रिपोर्ट शैली रिपोर्ट रिपोर्टा शैली उस रिपोर्टा शैली का बिल्कुल उल्टा जो स्वरूप है वो है छायावाद छायावाद में वस्तु जो है उसका वर्णन नहीं वस्तु ने कवि के ऊपर जो प्रभाव डाला है उस प्रभाव का वर्णन किया जाए उसको हम छाया तो ये रूपों में बहुत अंतर है तो यहाँ पर श्री कृष्ण की क्या दशा है कृष्ण की रूप माधुरी है उसका वर्णन किया परंतु वो पिछड़ गई मुख्य रूप से प्रभाव का वर्णन किया जा रहा है कि मानव नींद ने कृष्ण से मैं वियोग प्राप्त नहीं कर लू इसलिए नींद ने अपने आप को ही श्री कृष्ण के दोनों आंखों को सौंप दिया तो सीरस का कृष्ण की आंखों में नील है यहां उत्प्रेक्षा के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि नींद अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित करने की विराजमान हो रही है इस प्रकार यहाँ स्थूल वर्णन न होकर के जो प्रभाव है उसका वर्णन करना और जो एक्सट्रैक्ट वस्तु है जो अचेतन वस्तु है उन अचेतन वस्तुओं को भी चेतन बना देना यह कभी भी क्षय तो जो छायावादी कवि हुए उस छायावादी कर्मियों की विशेषता रही कि उन्होंने स्थूल वर्णन को गौण कर दिया इस को उसका एक बार जरा सा झलक दे दी परंतु उसने जो प्रभाव डाला है उसका जो इम्पैक्ट पड़ा है उस छाया का वर्णन किया जाए तो स्कूल का वर्णन न करके जहां छाया का या प्रभाव का वर्णन किया जाए उसका नाम छाया तो यहाँ पर ये दिख रहा है श्री कृष्ण दोबारा सोए योग्य स्थूल बने परंतु नींद ने मानव कृष्ण को अपने आप को आंखों को अपने आप को समर्पित कर दिया तो जो भावात्मक वस्तु है एब्स्ट्रैक्ट है स्थूल नहीं है वह उसको कर्ता बना करके भाव को कर्ता बना करके यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है तो ये कवि की बहुत बड़ी विशेषता श्री जानकी जी से के विषय में रामचंद्र जी ने पूछा जानकी कैसी है हे हनुमान तुमने जानकी को अशोक वार्ता में कैसे देखा और उस समय श्री वाल्मीकि रामायण जी ने श्री हनुमान जी वर्णन कर रहे हैं कि पृथ्वत पाठशील विद्येव तंतांग कि पड़वा के दिन विद्या अध्ययन करने वाले की विद्या की तरह से दुबली हो रही थी पृथ्वीशीलस्य के दिन अन्नध्याय रहता है परंतु अन्नध्याय के दिन यदि कोई पढ़े तो उसकी विद्या जैसे दुबली हो जाएगी ऐसे तो, जो दृष्टान्त दिया गया जो मान दिया गया कितना बारीक मान प्रभाव जो है उस प्रभाव का वर्णन वस्तु का वर्णन नहीं है प्रभाव का वर्णन यह कवि की एक विशेषता तो आज वीर ने मां श्री कृष्ण को क्योंकि आंखों को अपने आप को ही समर्पित कर दिया है उस समय खत्विक देशे तथ तो श्री कृष्ण उठ करके अपने पलंग के ऊपर बैठ गए तो पलंग के ऊपर बैठ करके सर करके पलंग की पाटी पर आकर के जो पार्टी है उस पार्टी पर आकर के श्री कृष्ण बैठे खटवा एक देश खटुआ मन पलक और बिंदस्त पादा की और अपने चरणों को उन्होंने पृथ्वी के ऊपर लटकाया और पृथ्वी के ऊपर टिकाया तो आज शैया जो है वो शैया सोने के लिए नहीं है शैया मानो बैठने की कुर्सी बन गई तो पार्टी के ऊपर बैठ करके अपने चरणों को धरती के ऊपर लटका दिया है माने रख दिया पादाक्षी युगम दोनों चरणों को पृथ्वी पृथ्वी के ऊपर और नमाम सामने पौर्णमासी को देखा पौर्णमासी जगा रही पौर्णमासी बोल रही है सामने पौर्णिमासी जी है इसलिए श्री कृष्ण प्रणाम कर रहे हैं कि नमाम में हम क्वा भगवती हे भगवती दंडवत आपको प्रणाम ये भारतीय शिष्टाचार में ये सिखाया जाता है तो वो भाई सुबह उठ करके संध्या को जैसे बत्ती दिया बत्ती हो उस समय बड़ों को प्रणाम तो ये भारतीय शिष्टाचार तो श्री कृष्ण वही शिष्टाचार यहाँ पर अपना रहे हैं सामने पौर्णिमासी को देखा सबसे पहले श्री नमामि अहम त्वाम मैं तुमको प्रणाम कर रहा हूं प्रणाम करने का एक तरीका कि जहां पूर्ण प्रणाम है विनम्रता है वहां अपना नाम लेकर के फिर प्रणाम किया जाता है ये स्वयं अपना नाम ले लिया जाता है परंतु प्रणाम करते समय अपने नाम को भी दिया जा सकता है और नाम लेना चाहिए जैसे संध्या करते हैं तो संध्या की समाप्ति होने पर अपने हाथ की जो मुद्रा है उसको स्वस्तिक आकार बना करके दोनों कामों को छूकर स्वस्तिक आकार बना करके स्वस्थ का आकार बना करके दोनों कान जो है उनको छूकर कर कह रहे हैं कि चतुसागर पर्यतम वो ब्राह्मण अमुक अमुक वासिष्ठ मित्रावर कौडल्य जो त्रिप्रवर है उन त्रिप्रवर उनने कौडल्य को तो पन्नो हम अमुक देव शर्मा हम वो गुरु तो हम हम अभिवादी हे गुरु हम आपका अभिवादन करते तो अपना नाम लेकर के प्राण किया जाता है ये एक रीति है पूर्ण प्रणाम पूर्ण आदर प्रकट करने में निज नाम का उच्चारण करते हुए फिर प्रणाम किया जाता तो नमाम नमामि अहम मैं कृष्ण आपको प्रणाम कर रहा हूं भगवती ये भगवती आपको प्रणाम कर रहा आइए संबोधन भोग वो या आई शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो संबोधन करके हे गुरुदेव मैं आपको प्रणाम कर रहा इस तरह प्रणाम कर रहे आई इतनी जगह ऐसे श्री कृष्ण ने कहा जिम हो गमन गदगद और श्री कृष्ण जो भाई में लेते जा रहे और कर और करते जा रहे कैसी सुंदर छवि है कि जमाई जमाई भी आ गई और जमाई बीच में ही कह रहे हैं तो भगवती मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ मेरे आपको प्रणाम कर रहा हूँ पूर्णिमा जी ये छवि को देखकर अब बिल्कुल निकुंज की भाषा है अलग पता लगता है निकुंज की भाषा जो जैसा देख रहे हैं जैसा हो रहा है वैसा बन निकट रहे जैसी देखे तैसी है ये अलग पता लग जाता है कोई कवि की भाषा है कहां पर कवि कल्पना से कह रहा है और कहा सामने देख करके कह रहा है ये जो दृश्यावली है ये दृश्यावली तभी आएगी जबकि उस दृश्य को कभी सामने देख रहा है

श्री पौर्णिमा जी आई तो श्री यशोदा जी आई यशोदा जी आगे आकर के श्री कृष्ण के आपार शीश चरण से लेकर के शीर्ष पाकर श्री कृष्ण के सभी अंगों को छूती हुई सहलाती हुई और उस समय बाल रक्षा स्त्रोत्र उनका पाठ कर रहे पूर्तना बढ़ के समय यशोदा जी ने जो स्त्रोत्र गायन किया

दाकिन्यो या धनाश कुंडा ये ग्रहा यक्ष अक्षोभाशास्त्र मात्र माता महादय के सर्वे नश्यंत ते विष्णु नाम एक एक नाम लेकर के श्री कृष्ण के एक एक अंग की रक्षा कर रही है श्री कृष्ण के बारह नाम से कृष्ण की ही रक्षा की जा रही है जैसे महादेव पार्वती के विवाह में गणेश जी का पूजन ऐसे ही यहाँ पर कृष्ण के नाम से कृष्ण की ही रक्षा की जाए कि अव्याप्त अजोधी मनमान श्री अज भगवान तेरे चरणों की रक्षा करे तो आपा चरणों से शुरू कर रहे हैं और सिर तक जाए तो आपाद सूक्ष्म अथ पान तल अभिमर्श चरण से लेकर के सिर तक पाण माने हथेली उनका अभिमर्श माने स्पर्श करते हुई श्री यशोदा कृष्ण की रक्षा कर रही हैं अभिमर्श क्या कह रही है अव्याप अजोरी इति कि श्री अज भगवान तेरे चरणों की रक्षा कर रहे हैं मनमान भगवान तेरे घुटनों की रक्षा कर श्री दामोदर भगवान तेरी कमर की रक्षा कर श्री इंद्र भगवान तेरी बक्षस्थल जो है उनकी रक्षा करें श्री विष्णु भगवान तेरे हाथों की रक्षा करें ऐसे अभ्यास यज्ञोच्युता श्री तेरे की जठर की पेट की रक्षा कर ऐसे श्री कृष्ण के एक एक अंग का स्पर्श कर जगत के ईश्वर वीर सबके अवतारी वीर और इनकी रक्षा अवतार करेंगे ये अवतार की रक्षा करेंगे कि अवतार की रक्षा करेंगे परंतु बासठ का भाव यही है मैं यही कह रही है कि मेरा नाना वो बिल्कुल निर्मल है और देवता ही इसकी रक्षा करें ऐसे रक्षा करते हुए विराजमान हो सो आप सूक्ष्म पाण तरल अभ्यास अयोध्री मंत्र उदाहरण ऐसे मंत्र का उच्चारण कर दी जा रही है संरक्षित पूर्ण ऐसे कन्हैया के जल्दी से तंत्र विधि से संरक्ष मन रक्षा करती दी तंत्र कहते हैं शीघ्रता से जहां पर बिना विस्तार के रक्षा कर दी जाए संक्षेप में तो तंत्र के दो अर्थ होते हैं तंत्र माने विस्तार और तंत्र माने संक्षेप दो तंत्र पूजा करा दो माने कई देवता हैं एक बार सबका स्मरण कर लिया फिर दंड अक्षर पाद्य अर्घ आचमनी इन सभी को अलग अलग कराने की जरूरत नहीं है एक जगह ही एक साथ सबकी पूजा कर दी जाए उसको कहते हैं तंत्र पूजा एक तंत्र पूजा एक तंत्र से पूजा करा कहीं तांत्रिक उपासना उसका तात्पर्य है कि जहां भगवान के पूरे वैभव को पहले पूजा जाए फिर वैभवान भगवान का पूजन किया उसका नाम है तंत्रोपासना भगवान की कितनी शक्ति है भगवान के जितने भी आयु है भगवान के जितने पार्षद है उन समय पर ध्यान किया जाता भगवान के अंगों की भावना की जाए पाताल में पाल मूलम पाताल उनका चरण का पथली है स्वर्ग उनकी नाभि है सत्यलोक उनका माथा है बाल जो है वो आकाश में उड़ने वाले सारे केश हैं पृथ्वी वो उनके रोम है नदिया उनकी नाड़ी है पहाड़ उनकी है ऐसे स्थूल जगत में भी भगवान के अंगों की कल्पना की जाए भगवान के अंग है नहीं वे भगवान के अंग तो विशुद्ध सत्तात्मक है जगत जो बना हुआ है वो तुलनात्मक है परंतु तुलनात्मक जगत में भी भगवान के अंगों की कल्पना की जाए तो पहले तो स्थूल जगत में भगवान के अंगों की कल्पना की गई फिर स्थूल जगत में कल्पना करते हुए फिर सूक्ष्म धारणा में आए सूक्ष्म धारणा में आए तब श्री वैकुंठ धाम उनमें उनकी अनंत शक्ति है अब उन शक्तियों का कैसे कैसे कहाँ कहां ध्यान करें ये भी एक समस्या है इतना बड़ा ब्रह्मांड कहाँ ध्यान करें और कहाँ पूजन करने के लिए जाएंगे एक एक वृक्ष का पूजन करना संभव है नहीं संपूर्ण आकाश का या संपूर्ण नदियों का पूजन करना ये संभव है नहीं तब क्या किया जाएगा वो तब सर्व तो भक्त मन बना करके श्री श्री यंत्र बना करके छह जो त्रिभुज हैं उनको एक दूसरे में फंसा करके जो अनंत कोट ब्रह्मांड है उन अनंत कोट ब्रह्मांडों के वैभव को किसी यंत्र में अब यंत्र के एक एक कोण में एक एक रेखा में एक एक वस्तु का पूजन कर रहे हैं ये बात तो तंत्र का मतलब है विस्तार तन्यते विस्तार्यते इति तंत्र जहां पर भगवान के भगवत वैभव जहां पर भगवान के वैभव का विस्तार किया जाए और उनका पूजन किया जाए उसका नाम हुआ तंत्र उस तंत्र को कहीं पूजन का एक भाग बनाने के लिए प्रत्यक्ष में उनको स्थापित करने के लिए फिर साधक क्या करता है तो सब जगह जाकर पूजा कर नहीं सकता है इतने वैभव में इसलिए फिर वह श्री यंत्र या सर्वोपभद्र या गोपाल यंत्र उनको बना करके किसी यंत्र के भीतर भगवान की सारी विभूतियों का पूजन करता शंख चक्र गड़ा पद्म धनुष ढाल तलवार पाश इन सबों से युक्त होकर के चंद्र प्रचंड कुमर कुंजक्षण विश्व से इन सबों से युक्त होकर के नंद सुनंद इत्यादि सारे पार्षद सेनापति उन सबों को भी उसी यंत्र के भीतर कहीं पूजा करते अनंत तो भगवान का बलि फिर अपने हृदय में जो भगवान विराजमान है उन भगवान का श्री विग्रह उन श्री विग्रह में स्थापन करें और फिर सालराम जी की शिला ठाकुर जी के श्री विग्रह नारायण के श्री विग्रह को उस श्री यंत्र की कर्ण काम कहीं स्थापित करें और कर्णिका में स्थापित करके फिर भगवान का षोडशोपचार के द्वारा अर्धपाद्य आत्मनियम के द्वारा महा राजकीय उपचार के द्वारा पूजन करें ये हो गया वैदिकी तांत्रिक विश्व पूजा तो तीन पूजा है वैदिकी पूजा का तात्पर्य है कि श्री विग्रह में भगवान वेद मंत्रों के द्वारा भगवान का आविर्भाव करके भगवान की प्रतिष्ठा करवा करके प्रतिष्ठा विधि के द्वारा भगवान की स्थापना करके भगवान का आह्वान करके वहां पर पूजा की जाए और फिर दुबई की पूजा करने में ऐश्वर्य ईश्वर का ध्यान रहेगा माधव का स्मरण नहीं ऐसी स्थिति में एक दूसरी पूजा है वो है तांत्रिक की पूजा तांत्रिक पूजा में भगवान के अनंत वैभव और अनंत पार्षद उन सबों का भी विभिन्न प्रकार से पूजन किया जाए माने श्री यंत्र के विभिन्न कोणों में भगवान के विभिन्न अंगों का भगवान के विभिन्न शक्तियों का पूजन किया जाए जो कि तांत्रिक पूजा फिर वैदिक की तांत्रिक मिश्रित पूजा वैदिक की तांत्रिक मिश्रित पूजा वहां है जहां पर के जो श्रीयंत्र बनाया हुआ है और भगवान के सारे ऐश्वर्य को जिसमें ध्यान किया गया है उसके बीच में श्री ग्रह की स्थापना करके श्री नारायण के श्री गोपाल जी के श्री विग्रह को ठाकुर जी के श्री विग्रह को स्थापित करके फिर उनका नारायण का पूजन किया जाए जो योग्य वैदिक तांत्रिक मिश्र तो श्री विग्रह में वेद मंत्रों के द्वारा भगवान का आभार पूजन इसको कहेंगे वैदिक भगवान के अनंत वैभव उनका भी ध्यान और उनका भी अलग अलग पूजन तन्यते विस्तार लेते भगवत वैभव जहां पर भगवान के वैभव का विस्तार किया जाए उसका नाम हुआ तांत्रिक पूजा वैदिक तांत्रिक पूजा का तात्पर्य है कि श्री यंत्र इत्यादि बनाए श्री यंत्र के बीच में मूर्ति की स्थापना की मूर्ति की स्थापना करके प्रतिमा की स्थापना करके उस प्रतिमा में भगवान के विग्रह का स्थापन करके फिर उसका पूजन किया तंत्र पूजा भी हो रही है और भगवान की पूजा भी हो रही है उस पूजा में कहीं वैदिक मंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है और कहीं पुराणों के मंत्रों का भी प्रयोग किया जा रहा है कभी कभी लौकिक जो भाषा है उसके मंत्रों का भी प्रयोग किया जा रहा है तो जो व्यक्ति वेद के मंत्र और साथ के साथ में जो पंडित और पौराणिक मंत्र पौराणिक श्लोक पौराणिक स्तुति इन दोनों को मिलाकर के पूजा कराए उसका नाम है मिस्र मिश्र जी तो मिश्र जो कहते हैं मिश्र जी तो मिश्र जी या मिश्र जी इसका मतलब है कि वे दोनों प्रकार की पूजा कराना जानते हैं तांत्रिक की पूजा भी जानते हैं और वैदिक की पूजा भी जानते हैं और वेद मंत्र और पुराण मंत्र इन दोनों को मिला करके वे पूजा करते हैं परंतु ये पूजा वैदिकी तांत्रिकी या वैदिकी तांत्रिकी मिश्रित ये तीनों पूजाएं कभी कभी विशेष अवसर पर इन पूजाओं का प्रयोग किया जाएगा जहां भावना में विराजमान है वहां पर श्री कृष्ण लौकिक सदंग भाव से उनका भाव पूर्वक पूजन किया जाएगा और उस पूजन में मंत्रों की आवश्यकता नहीं है वहां भाव के द्वारा पूजन किया जाएगा और मंत्र भी यदि है तो वे कहीं लाल के मंत्र ही है जैसे श्री यशोदा जी यहाँ तांत्रिक विधि से श्री कृष्ण के नाम मंत्रों के द्वारा कृष्ण की रक्षा कर रही है परंतु तंत्र की प्रधानता नहीं है प्रधानता भाव की है कि मेरे बालक के अंगों की बिल विभिन्न नारायण के अंश रक्षा करते हुए तो भाव की प्रधानता है जहां पर ऐश्वर्य के बंधन की प्रधानता नहीं है ऐश्वर्य भाव की रक्षा करने में उपयोगी होकर प्रधान है ऐश्वर्य हावी नहीं है ऐश्वर्य सेवक है आप ही जहां से भी होकर के प्रधान होकर के विराज तो वो पूजा की जाए तो भाव की प्रधानता है पर कभी कभी ऐसा होता है जैसे कोई विशेष अवसर है तो विशेष अवसर पर फिर वैद्य की पूजा की जाएगी बालक का जन्मदिन है तो अब जन्मदिन में फिर विशेष जो आभ्युक्त स्थानिक जो कार्य है उनको करने के लिए फिर गर्गाचार्य को बुलाया जाएगा जो है उनको बुलाया जाएगा उनसे नामकरण करवाया जाएगा नित्यादि में फिर गर्गाचार्य को बुलाने की जरूरत नहीं तो बालक के जन्मदिन के अवसर पर अमुक अवसर पर जैसे फिर मंत्र देवता की पुरोहित की आवश्यकता हो इस तरह से पुरोहित को बुला करके फिर पूजन किया जाएगा तो यहाँ पर श्री यशोदा जी ने अभ्यास अजोघ्रिम मंत्र उदाहरण दी श्री अज भगवान तेरी रक्षा करे तेरे चरणों की इत्यादि मंत्र का उच्चारण करते हुए संरक्षित पूर्णम संरक्षित पूर्णम कन्या की शीघ्र ही रक्षा करती और अखिलांग संपूर्ण अंगों का स्पर्श करके उनकी रक्षा करके अथोर्ध दृष्टिया अपनी आंखें ऊपर करके प्रार्थना कर रही इसको देख रही है आकाश <laughs> आकाश में देख करके प्रार्थना करने लगी <laughs> कृष्ण को जैसे कहीं बिल्कुल दुग्ध मुख बालक है इनमें तो कोई दम है ही नहीं तो श्री आकाश में कल्पना में श्री नारायण उनका दर्शन करके हाथ जोड़कर पूर्ण दृष्टिया किंचन सदा पर घिघियाते हुए ताप स्वर के साथ में अर्थ है इसमें रागी रानी हो कुछ प्रार्थना करें रानी प्रार्थना करेगी विरोधाभास परंतु यहाँ पर ये विरोधाभास ही सबसे ज्यादा चमत्कार अपने रानी पर भूल करके प्रार्थना करने लगे आकाश में नजर कौन सा आकार देख रही है और उसका <coughs> दर्शन करके नारायण भवत उच्चरात सुन दत्ता हम लोगों ने कोई सेवा की होगी हम में तो सेवा बनती नहीं है हमारे ससुर श्री पर्जन्य श्री जो बड़े बड़े हुए हैं उन्होंने दिल इत्यादि उनने आपकी कोई सेवा की पर्जन्य महाराज ने बड़ा तप किया उनके तप के प्रभाव से पूर्वजों के तप के प्रभाव से ये मिल रहा है आपकी कृपा से ये नारायण हमारे लाला की आप रक्षा कर तो देवानिदेव भवते चरात सुकोयम दत्ता चराग माने पीढ़ियों के भजन के प्रभाव के कारण आज मेरी गोली भरी है और मुझे ये पुत्र प्राप्त हुआ है और ये हमारे संपूर्ण कुल का बस आधार है कुल की बीज बस यही है उनका यही बस कुल की बेल ये बेल बढ़ जाए किसी तरह से स्वबंधजन जीवनता को अपने बंधजन के प्राण होकर के बालक आया है पालनाथ भगवते हमारी सामर्थ्य नहीं है पालन करने वाले तो हे नारायण आप हो हम क्या करेंगे हम रक्षा करने वाले नहीं है इसका पालन करने वाले तो आप ही हो पालनों में नाथ भगवते हो आप भी इसकी इसका पालन करेंगे कृपा हो कृपा के द्वारा स्वयं काम आप चेतन तब में कर दो स्वयं आप खुद ही मेरे पालन की रक्षा करोगे ताम तो अपचित मैं कौन सी अपचित माने सेवा इस समय तब वेद में करता हूं मैं आपकी कौन सी सेवा कर सकती हूँ मेरे पास में कोई साधन नहीं है कि तो मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं इसलिए हे नारायण हे देवान आप ही मेरे पाप की रक्षा करोगे ऐसा कहा फिर आज केवल ऐसा कहकर के प्रार्थना करनी है और उसी समय जितने भी कुमार दास जो छोटे छोटे दास थे उन बालकों ने दास दासीगण वो जो बालक है कन्हैया के सखागण उन सखागणों ने उस समय कन्हैया की मंगला आरती की आराध्य के आरती कर रही है मंगल दीप भाजा मंगल दीप उनको जला मंगल ने दीप उनको जला विभ्राजित जो चमक रहे हैं जित सौभगवत सफाजा जित भगवत वे सखागण वे सखीगण जो आरती कर रही है मंगला आरती वे भी चित सौभाग्य परम परम सौभाग्य से विराजमान है जिन्होंने सौभाग्य को जीत लिया है समाज समाज के वे दास दासीगण समझ और समाज ये दो शब्द आते हैं समझ कहते हैं समूह पशुओं का जो समूह है उसको कहा जाता है समझ जहां एक निश्चित जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संगठित मनुष्यों का जो समूह है उसका नाम है समाज तो समझ समाज में ये संस्कृत में मूल अंतर किया गया समाज शास्त्र में सोशियोलॉजी में ये समझ और समाज का अंतर किया गया सोशियोलॉजी में समाज उसको कहते हैं जहां एक निश्चित सुरक्षित लक्ष्य को और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्यों का जो समूह है उसका नाम है समाज पशुओं के समूह को समूह कहते हैं समाज तो यहां समाज मनुष्यों का समाज होता है पशुओं का समझ होता है यदि कहीं कोई बॉन्ड मेंटलिटी में काम करे वो पशु पर जहां विवेक के साथ में हम कर रहे हैं कौन सा काम उचित है कौन सा अनुचित है इसका विचार किया जाए उसका नाम समाज तो समाज जिन सौभाग्य पर समाज जिन्होंने सौभाग्य को प्राप्त कर रखा है ऐसा जो उन परम भक्तों का समूह था दास दासियों का जो समूह है कुमार दास्या कुमार जो कन्हैया के उम्र के ही जो दास है दास गए हैं उन समय में आरा के मणिमंडल जी को आजाद मणिमंडल दीपक उनको लेकर के विपराज के वो जो चमक रहे हैं मणि के दीपक उनको लेकर के आधार पांच सरसी हुआ अपने हथेली के ऊपर उन दीपों को रखा और हथेली के ऊपर दीपक रख करके अर्थात दीपों की जो थाली है उसको अपने हाथ में रख करके आरती उसको अपने हाथ में रख करके पार सरसी वहम सरसी हमारे कमर हथेली रूपी कमल कमर के ऊपर उन आरती को रख करके मुदा अस्सी मीरा आनंद पूर्वक इन श्री कृष्ण का संपूर्ण रूप से पूजन किया निराजन किया है विराजमान संपूर्ण रूप से जहां दीपक को हिलाते हुए अजन करते हुए कंपन करते हुए जहां दीपक को घुमाया जाए या जल को घुमाया जाए नीर जो है उसका अजन करते हुए कंपन करते हुए जहां घुमाया जाए या दीपक को घुमा करके जहां संपूर्ण अंग का दर्शन कराया जाए संपूर्ण अंग की रक्षा की जाए उसका नाम नीराय तो नीरायन माने आपकी जो दीपक है उस दीपक का अजय माने कंपन करते हुए नी माने संपूर्ण दो अर्थ हो गए एक हो गया नीर माने जल उसको कपाते हुए आरती करना और दूसरा हो गया नी माने संपूर्ण प्रकार से अजन करते हुए जहां अंग का दर्शन करते हुए कराते हुए सर्वांग का दर्शन कराया जाए उसका नाम है वीराज तो मुदास जो नीराजन है वो नीराजन करते हुए विराजमान हो रहे हैं कहीं जो आ, जो दीपक है उसको दीपक को सर्व से लाते हुए जहां दर्शन कराया जाए तो उसी के लिए शास्त्र में कहीं विधान किया गया कि दो फेरा दो पाद देशे चरणों में दो तो फेरा फिर जो नाभि है उसमें दो फेरा फिर दोनों भुजा उनमें दो फेरा फिर एक मुख उसमें एक फेरा और फिर लड़ा उसके ऊपर एक फेरा ये सात फेरा तो एक दफे के लिए और फिर सात फेरा सर्वांग फिर फिर सर्वांग में अनेक अनेक जो फेरा है उनको शास्त्र ले अब कहीं पहले धूप से नीराजन पंचार्थ जहां पर है वहां पर पहले धूप से निराजन तो संक्षेप में ही सारी पूजा करनी है तो पहले धूप फिर धूप के बाद में फिर दीपक दीपक के द्वारा मीरा यज्ञ किया दीपक के बाद में फिर जल के द्वारा मीरा यज्ञ किया फिर जल के द्वारा मीरा यज्ञ करने के बाद में फिर वस्त्र उस वस्त्र के द्वारा निर्मंचन जैसे बलैया तो वस्त्र जो है वो वस्त्र के द्वारा मीरा यज्ञ किया और फिर इसके बाद में जो चमर उस चमर के द्वारा निराजन करते हुए चमर और मोर्छन इनके द्वारा विराजन करते हुए ये पंच आसन करते हुए पुष्प फिर पुष्पांजलि पुष्पांजलि देकर के और फिर चमर जो है वो चमर के द्वारा तो धूप दीप जल वस्त्र पुष्प ये पांच आरती हो गई और पांच आरती के बाद में फिर चमर इत्यादि के द्वारा बहुत चार से सीमा छठ इनको करते हुए विराजमान तो ये आ, जो जो मूर्छन है वो मूर्छन के द्वारा भी सेवा तो इनको करते विराजमान तो वो महावैभव उसको प्रकट करने का इनको करते हुए विराजमान तो से उस समय माने संपूर्ण प्रकार से आ अजनम कंपन करते हुए जहां नजर उतारी जाए उसका नाम मी आ अजर ऐसा माने संपूर्ण अंग जो है उनका आ, उनकी रक्षा करते हुए विराजमान हो अथवा वीर अजन जल जो है उसके द्वारा भी अजन करते हुए कंपन करते हुए श्री कृष्ण का सर्वांग दर्शन और सर्वांग पूजन जहाँ किया जाए उसका नाम नीराजन उस समय श्री कृष्ण का नीराजन किया इस प्रकार की साफ उस समय श्री ब्रजराज कुमार की जय मंगलारती की जय जय श्री राधे मंगलारती आनंदपूर्वक यशोदा जी ने भी उस समय की है कि श्री कल से एक सेवा है हर रहती है कल योग जो है श्री कुमार गुरु जी का राघव मंदिर और श्री गोपाल मंदिर और अष्टमी को श्री गोपनाथ गोस्वामी का योग योग कल पंचमी को श्री गोपाल गोस्वामी वार्ता योग योग योग मतलब मटक मतलब तो मतलब बचे ना जब धियो धियो धियो धियो हमारे भंडारा होगा उत्सव होगा उत्सव की समाप्ति मटक बचेगा तो धियो धियो होगा तो धियो धियो होगी बड़ी बात उसको धियो धियो कहते हैं वैष्णव महोत्सव तो श्री गोपाल भट्टी का वैष्णव महोत्सव और पंचमी को और अष्टमी को श्री गोपनाथ गोस्वामी कोई चार लोग वहाँ सेवा लेते हैं इक्कीस तारीख से श्री राधा एक सेवा है सप्ताह इक्कीस से सत्ताईस तारीख तो इसलिए कल से लेकर के करने को तो कर सकते हैं परंतु एक बार बैठे जब तक तो समाप्त होता नहीं हो तब तक करते हैं <laughs> अधूरा रहता है आप यहाँ पर रहे हैं तो कहीं भी बोलना शुरू किया तो जब तक पैतालीस मिनट नहीं हो गया तब तक पीरियड पूरा नहीं होता था तो यहाँ पर पड़ी हुई है तो ये कह के दस मिनट में बात कह दो तो बड़ा कठिन होता होता है बीस मिनट में कहना तो एक बार शुरू करते हैं तो शुरू हो जाती है तो जैसे भी है चाहे तो हम ऐसा कर सकते हैं जैसे साढ़े छह साढ़े पाँच समय मजा आ गया इससे कल कल से विश्राम कल से अट्ठाईस तारीख तक विश्राम रहेगा तो जैसी सेवा है वैसे आप वैष्णव का इतना आशीर्वाद मिल रहा है यहाँ कुछ सुख भी श्रीमन मोहन और यहाँ सुख अलग है फिर जैसे सत्ताईस तक कल से सत्ताईस तारीख का यहाँ दूसरा कर्म होगा जो कर्म होगा आश्रम सत्संग तो कोई चालू रहेगा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल श्री राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद गौर हरि